अष्टवक्र उवाच ब्रह्मभूतम् इदं सर्वं किञ्चित् नास्ति निश्चयी आलाक्ष स्फुरं स्वभावेन एव शाम्यति शूदस्फूरणरूपस्य ग्रह्यभावम् अपाश्यत क्व विधिः क्व च वैराग्यम् क्व त्याग क्व शमोऽपि वा सुरतः अनन्तरूपेण प्रकृतिं च न पाश्यत क्व बन्दा क्व च वा मोक्षा क्व हर्ष क्व विषादिता बुधिर्पर्यन्तसंसारे मायामात्रं विवार्तते नीर्ममो नीरङ्कारो निष्कामशोभते बुध अक्षयं गतसन्तापम् आत्मानं पश्यतो मुने क्व वीत्या च क्व वा क्व त्वदेवो हम ममेति वा ब्रह्मभूतमिदम सर्वम किश्चिन्ना स्थिति निश्चयी अलक्ष्य स्फुरना शुद्ध स्वभावे नैव साम्य थी यह सब प्रपंच कुछ भी नहीं है ऐसा जानकर ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर अलक्ष्य स्फुरन वाला शुद्ध पुरुष स्वभाव से ही शांत होता है एक एक शब्द को ठीक से समझना जैसा अष्टावक्र कहे वैसा ही समझना अपने अर्थ मत डालना पहला शब्द है प्रपंच ब्रह्म मिदम सर्वम यह सब जो दिखाई पड़ता सच नहीं जैसा दिखाई पड़ता वैसा नहीं हम वैसा ही देख लेते हैं जैसा देखना चाहते हम अपनी कामना आरोपित कर लेते जैसा है वैसा तो तभी दिखाई पड़ेगा जब हमारे मन में कोई भी विचार न रह जाए जब हमारी आंखें बिल्कुल खाली हो शून्य हो जब हमारी आंख पर कोई भी बादल न हो पक्षपात के वासना के कामना के तो ही जो जैसा है वैसा दिखाई पड़ेगा प्रपंच का अर्थ होता है जैसा नहीं है वैसा देख लेना मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन अमेरिका की यात्रा पर गया न्यूयॉर्क की एक बड़ी सड़क पर राह के किनारे उसने एक बोर्ड लगा देखा जिस पर लिखा था कि 1980 में अमेरिका में कारों की संख्या 50 करोड़ हो जाएगी ऐसा पढ़ते ही वो एकदम भागा सड़क पर खतरनाक था वैसा भागना और एक पुलिस वाले ने उसे पकड़ा और कहा कि कहां भागे जाते हो क्या इतनी जल्दी देखते नहीं रास्ते पर इतना ट्रैफिक है नसरुद्दीन ने कहा छोड़ो भी 1980 में कारों की संख्या 50 करोड़ हो जाएगी अगर रास्ता पार करना है तो अभी कर लेना चाहिए आदमी अपनी कामना को प्रक्षेपित कर लेता तुम हंसते हो क्योंकि 1980 तो दूर मालूम पड़ता है इतनी जल्दी क्या है लेकिन तुमने न केवल मृत्यु तक की योजनाएं बना रखी तुमने मृत्यु के बाद की भी योजनाएं बना रखी तुमने यहां तो इंतजाम किया ही है तुम स्वर्ग में भी इंतजाम कर रहे हो यहां धन इकट्ठा कर रहे वहां पुण्य इकट्ठा कर रहे यहां चोरी से धन मिलता है तो चोरी से कर रहे वहां दान देने से पुण्य के सिक्के इकट्ठे होते हैं तो दान भी कर रहे चोर भी हो दानी भी हो सांस हो मैंने सुना है एक सम्राट ने एक बहुत बड़े चोर को फांसी की सजा दी उस राज्य का नियम था कि जैसे फांसी की सजा हो उससे अंतिम समय सम्राट पूछता था तेरी कोई आखिरी इच्छा तो नहीं तो सम्राट ने पूछा उस महाचोर को तेरी कोई आखिरी इच्छा तो नहीं उसने कहा मेरी आखिरी इच्छा है छोटी सी इच्छा है वो पूरी हो जाए तो मैं तृप्त मरू मेरे पास कुछ मोती है और मेरे गुरु ने कहा था कि इन्हें बो देना तो एक एक मोती से लाखों मोती पैदा होंगे तो मैं इन्हें बो देना चाहता हूं मैं तो मर जाऊंगा लेकिन कोई ये फसल काटेगा किसी को तो ये लाभ होगा नहीं तो ये मोती मेरे साथ ही चले जाएंगे सम्राट भी लोभ से भरा और उसने कहा ठीक है तुम राजमहल के बगीचे में ही बो दो उस आदमी ने जमीन साफ की उस आदमी ने जमीन पर हल बखर चलाए और फिर वो आदमी अचानक खड़ा हो गया उसने कहा सम्राट से कहा आप कृपा करके यहाँ आ जाएं क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था जो चोर न हो वही इन मोतियों को बोए मैं तो चोर हूं मैं इनको नहीं बो सकूंगा और बोऊंगा तो ये व्रत चले जाएंगे इन मोतियों की ये खूबी है ये उगेंगे तभी जब कोई ऐसा आदमी बोए जो अचोर है सम्राट अपने वजीरों की तरफ देखने लगा वजीर पुरोहित की तरफ देखने लगे वो पुरोहित सेनापति की तरफ देखने लगा और सेनापति सम्राट की तरफ देखने लगा और तब सम्राट ने कहा क्षमा करो ये बीज न जाए बो जा सकेंगे हम सब चोर ऐसा तो कोई आदमी नहीं जो चोर ना हो और सम्राट ने कहा मैं समझ गया तुम्हारी बात तुम्हारी फांसी की सदा रद्द की जाती तुम भी चोर हो हम भी चोर हैं तुम छोटे चोर हो हम बड़े चोर हैं लेकिन चोर हम सब हैं और वो सम्राट बड़ा दानी था और वो चोर कहने लगा महाराज आप और चोर कैसे हो सकते हैं आप तो महादानी वो सम्राट कहने लगा महादानी कैसे हो सकता हूं बिना चोर हुए पहले तो चोरी करनी पड़े फिर दान करना पड़ता लाख आदमी चुरा लेता है दो चार हजार दान कर देता है ऐसे चोरी के ऊपर साधु हो जाता है चोरी करके यहां धन इकट्ठा कर लेता है साधु होके पुण्य करके वहां स्वर्ग में भी सिक्के इकट्ठे कर लेता तुम तो योजना बनाते मृत्यु तक की मृत्यु के पार तक की अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के बच्चों के लिए नाती पोतियों के लिए समय के लंबे विस्तार पर तुम्हारी कामना फैल जाती फिर उस कामना के धुंध में से तुम देखना चाहते हो यथार्थ को नहीं दिखाई पड़ेगा राम को देखना चाहते काम के धुंध से नहीं दिखाई पड़ेगा काम का धुंध जाए तो राम दिखाई पड़े सत्य तो मौजूद है आंख के सामने मौजूद है लेकिन आंखें धुंधली हो गई हैं आंखों पर चश्मे पर चश्मे चढ़े हैं और मजा ऐसा है कि चश्मे भी तुम्हारे नहीं चश्मे भी दूसरों के कभी देखा किसी दूसरे का चश्मा लगा कर देखा कैसी हालत हो जाती कुछ का कुछ दिखाई पड़ने लगता और तुम्हारी आंख पर एक आध चश्मा नहीं है दूसरों का न मालूम कितने चश्मे बुद्ध के महावीर के कृष्ण के मोहम्मद के जरथुस्त्र के चश्मे पे चश्मे तुमने हर जगह से इकट्ठे कर लिए सदियों सदियों के चश्मे वो सब तुम लगाए बैठे हो और उनके माध्यम से तुम देखना चाहते हो जो है उसे नहीं प्रपंच हो जाता सब सब झूठ हो जाता है सब विकृत क्रूप प्रपंच का अर्थ होता है आंख शुद्ध न थी और देखा और आंख ही शुद्ध न हो तो फिर तुम जो भी देखोगे वो गलत हो गया यही माया का अर्थ है माया का ऐसा अर्थ नहीं है कि जो चारों तरफ से वो झूठ है जैसा तुमने देखा वैसा नहीं है जैसा तुमने देखा वैसा झूठ है ये पत्थर पहाड़ ये सूरज चांदारे ये झूठ नहीं है लेकिन तुमने जैसा देखा वैसा झूठ है कभी देखा रात चांद निकला हो पूर्णिमा का चांद हो शरद का चांद हो और अगर तुम दुखी हो तो चांद भी लगता है रो रहा है चांद क्या खाक रोएगा लेकिन तुम रो रहे हो तुम्हारी आंखें आंसू से भरी तुम्हारी प्रेसी खो गई कि तुम्हारा प्रेमी खो गया कि तुम्हारा बेटा मर गया तुम चांद की तरफ देखते लगता चांद से आंसू टपक रहे तुम्हारे आंसू चांद पर आरोपित हो जाते और हो सकता है तुम्हारे ही पड़ोस में किसी को उसकी प्रेसी मिल गई हो उसका मित्र घर आया हो वो आनंद मगन हो रहा हो वो चांद को देखेगा तो देखेगा चांद मुस्कुरा रहा नाच रहा गीत गुनगुना रहा एक ही चांद को देखते तुम दोनों लेकिन दोनों की आंखें अलग है दोनों की भावदशा अलग है भावदशा आरोपित हो जाती फिर चांद नहीं दिखाई पड़ता वही दिखाई पड़ता है जो तुम्हारे भीतर है जब तक हमारे भीतर प्रक्षेपण प्रोजेक्टर मौजूद है तब तक हम जो भी देखेंगे वह झूठ हो जाएगा ब्रह्म भूत मिदम सर्वम और ये जो सब तुम्हें अब तक दिखाई पड़ा है ये सब बिल्कुल असत्य है समझ लेना ठीक से इसका ये मतलब नहीं कि ये नहीं है कि तुम जाओगे तो दीवार से निकलना चाहोगे तो निकल जाओगे सब टूट जाएगा दीवाल है इस भ्रांति में मत पड़ना लेकिन जैसा तुम देखते हो वैसा नहीं है तुम्हारे देखने में भूल है सत्य के होने में जरा भी भूल नहीं है जिस दिन तुम्हारी आंखें निर्मल हो जाएंगी ध्यान पूरित हो जाएंगे जिस दिन तुम्हारी आंखों पर दूसरों के चश्मे न रह जाएंगे पक्षपात के शास्त्र के सिद्धांत के हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन के जिस दिन तुम्हारी आंख पर कोई चश्मे ना होंगे तुम्हारी आंख खुली और नग्न होगी और तुम मुक्त आंख से देखोगे और आंख के पीछे छिपी हुई वासना का कोई प्रोजेक्टर कोई प्रक्षेपण यंत्र ना होगा उस दिन जो दिखाई पड़ेगा वही परमात्मा है उस दिन सत्य को जाना उस दिन भ्रम छूटा यह सब प्रपंच है यह कुछ भी नहीं है ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर किश्चिन्न स्थिति निश्चयी किंचित न अस्थि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर इति निश्चयी निश्चय पूर्वक जानने को ख्याल में ले लो सुना तो तुमने भी है बहुत बार कि ये सब माया ये तो सदियों से इस देश में दोहराया जा रहा कि सब माया लेकिन सुनने से निश्चय नहीं होता विश्वास भी कर लो तो भी निश्चय नहीं होता विश्वास के भीतर भी अविश्वास का कीड़ा सरकता रहता तुमने लाख मान लिया कि सब माया लेकिन भीतर भीतर गहरे तो तुम जानते हो कि है तो सच शास्त्र कहते हैं सो मान लिया हिंदू घर में पैदा हुए सो मान लिया बौद्ध घर में पैदा हुए तो मान लिया लेकिन ये मानना है ये निश्चय नहीं है और जब तक ये निश्चय ना हो तब तक काम ना पड़ेगा मैं एक छोटे बच्चे से पूछ रहा था किसी के घर में मेहमान था वो बच्चा बड़ा तेजस्वी है वो मुझसे कहने लगा कि मेरा भी विश्वास ईश्वर में मैंने उससे पूछा विश्वास का तू अर्थ क्या करता है तो थोड़ा सोचने लगा और बोला विश्वास का अर्थ होता है ऐसी शक्ति कि जिसके द्वारा जैसा नहीं है वैसा मानने की हिम्मत आ जाए जैसा नहीं है वैसा मानने की हिम्मत आ जाए उसका नाम विश्वास है उसकी परिभाषा मुझे जची मालूम तो है कि नहीं है ईश्वर लेकिन फिर भी मान लेने की जो शक्ति है उसका नाम विश्वास बड़े बड़े शास्त्रों ने विश्वास की परिभाषा की लेकिन इतनी सुंदर नहीं तुम भी कहा मानते हो कि ईश्वर है कहते हो जीप पर है प्राण में नहीं है पर है हृदय में नहीं है ऊपर ऊपर है भीतर भीतर बिल्कुल नहीं है ये विश्वास निश्चय नहीं मैंने सुना है एक आदमी किसी गुरु के पास बहुत वर्षों तक रहा उसने एक दिन देखा कि गुरु पानी पे चल रहा है वो बड़ा चमत्कृत हुआ जब गुरु लौट के आया तो उसने पैर पकड़ लिए चमत्कार से तो लोग बड़े चकित होते हैं उसने कहा कि ये सूत्र तो मुझे भी बता दो ये तरकीब तो अब मैं छोड़ूंगा ना जान के रहूंगा ये रहस्य मुझे भी समझाओ कैसे पानी पर चले गुरु ने कहा इसमें कुछ रहस्य नहीं प्रभु पर भरोसा हो तो सब हो जाता है इति निश्चय श्रद्धा हो सब हो जाता है तो उसने कहा कैसे करूं श्रद्धा तो उन्होंने कहा प्रभु का स्मरण काफी राम नाम तो उस आदमी ने दूसरे ही सुबह नदी पे जाकर कोशिश की एकदम दोहराने लगा राम राम राम राम चलने की कोशिश की तत्न डुबकी खा गया मुंह में पानी भर गया मुश्किल बाहर निकल गया बड़ा क्रोधित हुआ गुरु के पास गया और कहा कि आप धोखा दिए मैं तो राम राम राम राम कहता ही गया फिर भी डुबकी खा गया और राम राम कहने की वजह से मुंह में भी पानी चला गया वैसे मैं तैरना जानता हूं मगर मैं राम राम कहने में लगा था और मैं इस ख्याल में था कि डुबकी तो होनी नहीं है तो मैंने कुछ व्यवस्था नहीं की थी सब कपड़े भी खराब हो गए डुबकी भी खा गया ये बात जस्ती ने आपने कुछ धोखा दे दिया गुरु ने पूछा कितनी बार राम कहा था उसने कहा कितनी बार अनगिनत बार कहा था पहले तो किनारे पर खड़े होकर खूब कहता रहा कि बल ताजा हो पैदा हो जाए फिर जब देखा कि हाँ अब आ गई गर्मी तो चला और डुबकी खा गया और कह रहा था तब भी जब डुबकी खा रहा था तब भी मैं राम राम ही कह रहा था गुरु ने कहा इतनी बार कहा इसलिए डूब गए श्रद्धा होती तो एक ही बार कहना काफी था ये तो अश्रद्धा की वजह से इतनी बार कहा श्रद्धा होती तो एक बार काफी था फिर दोबारा क्या कहना राम कह दिया बात खत्म हो गई सच तो यह है अगर श्रद्धा हो तो शब्द में कहना ही नहीं पड़ता हृदय में उसकी पुलक उसकी लहर काफी है इतने शब्द भी नहीं बनाने पड़ते हवा के एक झोंके की तरह से हृदय में कोई चीज गुंज जाती तुम्हें गुंजानी भी नहीं पड़ती इसलिए तो नानक ने उसके जाप को अजपा कहा है जब करना पड़े तो सच्चा नहीं थोड़ा झूठ हो गया जब का मतलब ये हो गया तुम कर रहे हो अजपा का अर्थ होता है जो अपने से हो तुम बैठे हो अचानक तुम पाओ भीतर की गूंज रही बात खिल रहे फूल तुम दृष्टा बन जाओ उस समय करता नहीं अजपा का अर्थ होता है जो तुमने जपा नहीं था फिर भी जपा गया जो अपने आप हुआ आगे हम सूत्रों में समझेंगे अजपा का अर्थ जो स्फुरन मात्र है जो तुम्हारे करने से नहीं हुआ है जिसकी स्फुरना हुई है वृक्षों में फूल खिले वृक्षों ने खिलाए नहीं खिले इसलिए बड़ी गहरी सच्चाई है उनमें और बड़ी सुगंध और उनके रंग अद्भुत थे और प्रभु की उनमें झलक है ये पक्षी गुनगुना रहे ये चेष्टा नहीं कर रहे ये गीत इनसे फूट रहा है जैसे झरने बह रहे ऐसे पक्षी गीत गुनगुना रहे जैसे हवा बहती और सूरज निकलता और सूरज की किरणें बरसती ऐसे पक्षी गा रहे ये स्फुरन मात्र है तुम जब बैठ के राम राम करते हो तब चेष्टा होती चेष्टा यानी झूठ तुम्हारा किया सब प्रपंच है तुम्हारे किए तुम कहीं भी ना पहुंच पाओगे तुमने किया कि तुम भटके तुम ऐसी दशा में आ जाओ जहां तुम ना करो जो होता है उसे होने दो लेकिन बिना किए तुम नहीं रह सकते एक मछुआ एक नदी के किनारे मछलियां मार रहा था उसने दो बाल्टियां रख छोड़ी थी मछलियां पकड़ता एक बाल्टी में डाल देता और कुछ केंकड़े पकड़ लेता तो उनको दूसरी बाल्टी में डाल देता मछलियां जिस बाल्टी में डालता उसके ऊपर तो उसने ढक्कन ढांक रखा था और कैंकड़े जिसमें डालता बिना ढक्कन के छोड़ दिया था और पच्चीसों कैकड़े उसमें बिल बिला रहे थे और निकलने की कोशिश कर रहे थे चढ़ रहे थे गांव के एक राजनेता नेताजी घूमने निकले थे उन्होंने खड़े होकर देखा उनको कोई बात जची नहीं उन्होंने कहा कि भाई तू कैसा पागल है इतनी मेहनत कर रहा हो ये कहकर सब निकल जाएंगे इसको ढांकता क्यों नहीं जैसे मछलियों को ढांका ऐसा इसको क्यों नहीं ढांकता उसने कहा आप बेफिक्र रहो ये केकड़े बड़े बुद्धिमान ये करीब करीब राजनीतिज्ञ ये राजनीति समझो आपकी राजनीति जैसी हालत है इनकी एक केकड़ा चढ़ता है दूसरा नीचे खींच लेता है ये निकल ना पाएंगे इनकी वही हालत है जो दिल्ली में है पच्चीस कैकड़े एक भी निकल नहीं सकता ये तो मैं सुबह से पकड़ रहा हूँ एक भी नहीं निकला मैं भी देख रहा हूँ कि हद राजनीति चल रही एक चढ़ता है दो खींच लेते हैं उसको इनको ढांकने की कोई जरूरत नहीं ये अपने ही करने से फंसे हुए इनका कृत्य ही इन्हें फंसा रखने को काफी है तुम जो फंसे हो तुम्हारे ही कृत्य से फंसे हो तुम जो खींच रहे हो दूसरा भी तुम्हें नहीं खींच रहा तुम खुद ही अपने को खींच खींच के गिरा लेते हो तुम्हारे जीवन में क्रांति घट सकती अगर तुम कृत्य को और कर्ता भाव को छोड़ दो और इस फुरना से जियो भ्रम भूत मिदम सर्वम यह सब जैसा तुमने देखा असत्य है जैसा है वैसा तुमने अभी देखा नहीं संसार और परमात्मा की यही परिभाषा है तुमने अक्सर सोचा होगा कि संसार और परमात्मा दो अलग अलग बातें गलत सोचा है परमात्मा को गलत ढंग से देखा तो संसार संसार को ठीक ढंग से देख लिया तो परमात्मा ये दो बातें नहीं है यहां द्वैत नहीं है एक ही है जैसा है वैसा ही देख लिया तो परमात्मा दिखाई पड़ जाता है और जैसा नहीं है वैसा देख लिया तो संसार ठीक ठीक देख लिया तो परमात्मा चूक गए तो संसार परमात्मा को देखने में जो चूक हो जाती उसी से संसार दिखाई पड़ता है परमात्मा को देखने में जो चूक हो जाती उसी से पदार्थ दिखाई पड़ता है अन्यथा पदार्थ नहीं पदार्थ तुम्हारी भ्रांति है परमात्मा सत्य है अब लोग हैं जो पूछते हैं परमात्मा कहाँ है कहते हैं परमात्मा को देखना है कभी कभी कोई नास्तिक मेरे पास आ जाता वो कहता जब तक हम देखेंगे नहीं मानेंगे नहीं मैं उससे कहता हूं पहले तू अपनी आंख की तो फिक्र कर ले देखेगा ये तो ठीक है देखने की आकांक्षा भी ठीक है लेकिन तेरी आंख खुली है तेरी आंख साफ सुथरी है इसकी तुझे चिंता नहीं है दर्शन की चिंता है दृष्टि की चिंता ही नहीं है अंधा है और रोशनी देखना चाहता है बहरा है और संगीत सुनना चाहता और कहता जब तक सुनूंगा नहीं मानूंगा नहीं बात तो ठीक कह रहा है सुनोगे नहीं तो मानने का सार भी क्या है लेकिन अगर सुनाई नहीं पड़ रहा है तो पहली बात बुद्धिमान आदमी यही सोचेगा कि कहीं मेरे सुनने के यंत्र में कोई खराबी तो नहीं सदियों सदियों में सदपुरुषों ने कहा है, है एक देश में नहीं अनंत अनंत कालों में अनंत अनंत देशों में अनंत अनंत परिस्थितियों में सदपुरुषों ने निरपवाद रूप से कहा है है तो कहीं मेरे आंख के यंत्र में कुछ खराबी तो नहीं ये बुद्धिमान आदमी पहली बात उठाएगा बुद्धू कहता है हो तो मैं देखू देखू तो मैं मानू और इसकी फिक्र ही नहीं करता कि मेरे पास देखने की क्षमता है पात्रता है इति निश्चयी का अर्थ होता है जिसने देख लिया और देख के जो निश्चय को उपलब्ध हो गया निश्चय एक ही तरह से आता है दर्शन से अनुभव से प्रतीति से अलक्ष स्फुरना शुद्ध स्वभावे नई व साम्य थी और अलक्ष स्फुरन वाला शुद्ध पुरुष स्वभाव से शांत होता ये शब्द बड़ा अद्भुत है अलक्ष्य स्फुरन वाला इसे समझ लिया तो अष्टवक्र का सब सारभूत समझ लिया हम तो जीते हैं अपनी चेष्टा से हम तो जीते हैं अपने योजना से हम तो जीते हैं प्रयास से जीने कि ये जो हमारी चेष्टा है ये जो प्रयास है यही हमें तनाव से भर देता है संताप और चिंता से भर देता है इतना विराट अस्तित्व चल रहा है तुम देखते हो फिर भी अंधे हो इतना विराट अस्तित्व चल रहा है इतनी व्यवस्था से चल रहा है इतना संगीतपूर्ण इतना लयबद्ध चल रहा है लेकिन तुम सोचते हो तुम्हें अपना जीवन खुद चलाना पड़ेगा कहा है मलूक ने अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका कह गए सबके दाता राम बड़ा अद्भुत वचन है यद्यपि गलत लोगों के हाथ में पड़ गया लोगों ने इसका अर्थ निकाल लिया कि पड़े रहो आलसी होकर दास मलुका कह गए सबके दाता राम तो करना क्या है कुछ मत करो ये मतलब नहीं है अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम लेकिन देखा पंछी कितने काम में लगे ला रहे घास पात बना रहे घोंसले बीन रहे गेहूं चावल दाल इकट्ठा कर रहे भोजन बच्चों को खिला रहे खुद खा रहे काम तो बहुत चल रहा है अजगर भी सरक रहा है अजगर भी काम में लगा है लेकिन मलूक का कुछ अर्थ और है मनुक ये कह रहे हैं कि पंछी इतना काम कर रहे फिर भी खुद नहीं कर रहे जो हो रहा है हो रहा है इसमें योजना नहीं है इसमें अहंकार नहीं है इसमें कर्तत्व का भाव नहीं है लेकिन लोग तो अपने ही ढंग से समझते लोग अपनी बुद्धि से समझते लोगों ने समझा कि तो आलस्य का पाठ है तो ओढ़ के चादर सो रहो लेकिन तुम अगर चादर भी ओढ़ के सोए तो तुम ही करता हो परमात्मा को करने दो तुम मत करो ये अर्थ होता है अलग से स्फुरन अज्ञात स्फुरन जो हाथ दिखाई नहीं पड़ते उनमें अपने को छोड़ दो जिसने सब संभाला है तुम्हें भी संभाल लेगा छोटी सी जिंदगी है तुम्हारी एक दिन मरे दूसरे दिन गए दो दिन की जिंदगी है इतना विराट समझा हुआ है तुम अपनी इस दो दिन की जिंदगी को छोड़ नहीं सकते इस विराट पर और न छोड़ के भी क्या सार है मरोगे न तुमने जन्म लिया है स्वयं न मौत तुम ले सकोगे जन्म भी हुआ मौत भी घटेगी बीच में ये थोड़े से दिन है तुम नाहक उत्पात कर रहे सबकर कहते हैं छोड़ दो इस फुरन पर जियो सहज इस फुरन से मत करो योजना मत बनाओ बड़े किले मत खड़े करो बड़े स्वप्न लेकिन लोग समझते हैं कि यह आलस्य की शिक्षा है यह आलस्य की शिक्षा नहीं ये अकर्मण्यता की शिक्षा नहीं ये इतनी ही शिक्षा है कि करता तुम न रहो करता परमात्मा हो लेकिन लोग अपने ही ढंग से समझते मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था वो स्त्री जरा चिंतित थी संदिग्ध थी एक दिन उसने पूछा जब शादी बिल्कुल करीब ही आने लगी और दिन बहुत निकट आने लगा तो उस स्त्री ने पूछा कि नसरुद्दीन क्या तुम शादी के बाद भी मुझे इतना ही प्यार करोगे ऐसा ही प्रेम करोगे जैसा अभी करते हो नसरुद्दीन ने कहा क्यों नहीं तुम तो जानती ही हो कि मुझे शादीशुदा औरतें ज्यादा पसंद आदमी की समझ अपनी समझ से ही देखेगा अपनी ही समझ से व्याख्या करेगा अपनी समझ के बाहर हम नहीं निकल पाते इसलिए परमात्मा की समझ हमारे हाथों में नहीं उतर पाती हम थोड़ी अपनी समझ को एक तरफ रखें अलग से स्फुरना का अर्थ होता है तुम स्वभाव पर छोड़कर देखो क्षण क्षण जियो जो अष्टावक अलक्ष्य स्फुरना से कह रहे हैं वही बुद्ध ने कहा है क्षणवाद से क्षण क्षण जियो आगे के क्षण का विचार मत करो इस क्षण जो हो होने दो आगे का क्षण जब आएगा तब आएगा जीसस ने कहा है आगे का क्षण अपनी फिक्र स्वयं कर लेगा जीसस ने कहा देखो खेतों में उगे हुए लिली के फूल कितने सुंदर हैं न इन्हें कल की चिंता है न बीते कल की कोई याद न ये श्रम करते न ये रंग जुटाते न सुगंध जुटाते सब किसी अलक्ष्य स्फूर्णा से हो रहा है और जीसस ने कहा है अपने शिष्यों से कि मैं तुमसे कहता हूं कि सम्राट सोलोमन भी अपने बहुमूल्य वस्त्रों में इतना सुंदर न था जितने ये लिली के फूल अलग अपने बहुमूल्य वस्त्रों में इतना स्नेह पक्षी है ये सारी प्रकृति का विराट खेल चल रहा है इस खेल में तुम भी भागीदार हो जाओ करता ना रहो जो परमात्मा कराए होने दो जैन फकीर कहते हैं जब भूख लगे भोजन कर लो जब नींद आए तब सो जाओ जैसा होता हो उसके साथ बहे चलो तैरो भी मत नदी की धार में बहो तुमने कभी एक मजेदार बात देखी जिंदा आदमी डूब जाता नदी में और मुर्दा आदमी तैरने लगता है मुर्दा नदी के ऊपर आ जाता है और जिंदा आदमी डुबकी खा जाता है मुर्दा आदमी को जरूर कोई राज मालूम है जो जिंदा को मालूम नहीं मुर्दा को एक राज मालूम है कि वो कोई चेष्टा नहीं करता चेष्टा कर ही नहीं सकता मुर्दा है जब चेष्टा नहीं करता तो नदी भी उसे अपने हाथों में ले लेती तुम चेष्टा करते हो उसी में डूब जाते हो तैरने की कला का कुल इतना ही राज है कि जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि नदी नहीं डुबाती तुम अपनी चेष्टा से डूबते हो तुम धीरे धीरे चेष्टा छोड़ते गए तब तो तुम नदी की छाती पर तैर सकते हो पड़े रहो नदी नहीं डुबाती नदी ने कभी किसी को नहीं डुबाया है लोग अपनी ही मेहनत से डूब गए ये विराट किसी को डुबाने में उत्सुक नहीं लोग अपनी मेहनत से डूब जाते लोग अपने गले में अपनी फांसी खुद लगा लेते यहां कोई तुम्हें फांसी देने को उत्सुक नहीं है ये अस्तित्व अपूर्व रस से भरा है और ये अस्तित्व अपूर्व उत्सव से भरा है तुम नाच सकते हो तुम्हारे पैर में जंजीरें नहीं है अस्तित्व ने तुम्हारे पैर में घूंगर डाले लेकिन तुम जंजीरें बना बैठे हो तुम ये बात भूल ही गए हो कि अस्तित्व के साथ एक रस हुआ जा सकता है संन्यास का ठीक ठीक यही अर्थ है जो व्यक्ति स्फूर्णा से जीने लगा जो अपने भीतर से जीने लगा जो अब बुद्धि से योजना नहीं करता है जो होता है होने देता है जैसा होता है वैसा होने देता है आक्रमण नहीं हो गया है कर्म विराट होता है अब भी लेकिन अब कर्म के ऊपर अपनी कोई मालकियत नहीं रही अब अपने कर्म पर कोई दावा नहीं रहा जो गैर दावेदार हो गया है वही सन्यासी है अलक्ष स्फुरना शुद्धा स्वभावे नई वैसाम्य थी और ऐसा व्यक्ति शुद्ध हो जाता है स्वभाव से ही शांत हो जाता है ऐसे व्यक्ति को शांत होने के लिए कोई भी योग जब तप नहीं करना पड़ता और ऐसे व्यक्ति को शुद्ध होने के लिए कोई भी आयोजना नहीं करनी पड़ती तो प्रपंच का अर्थ हुआ स्वप्न जाल मन का खेल विचार प्रक्षेपण कामना आरोपण जैसा नहीं है वैसा देख लेना जैसी इच्छा है वैसा देख लेना और प्रपंच से बाहर होने का मार्ग हुआ अलग छे स्फुरना शुद्धा जैसा है उसके साथ राजी हो जाना उसके साथ बहना जैसा है उसके साथ राजी हो जाना उसके साथ के धार के साथ जाना ये जो अस्तित्व की विराट धार जा रही है इसके साथ जाना अलक्ष्य स्फुरना हमें पक्का पता भी नहीं कि नदी कहां जा रही हमें पक्का पता भी नहीं कि इसका अंत कहां होगा अंत होगा भी क्या नहीं ये भी पता नहीं इस विराट की नियति क्या है इसका भी हमें कोई पता नहीं ये सब बड़ा रहस्यपूर्ण है लेकिन इसको पता लगाने की चेष्टा व्यर्थ है हम पता लगा भी ना पाएंगे ये तो ऐसे ही समझो कि बूंद सागर को समझने चली ये नहीं हो पाएगा ये असंभव है बूंद सागर तो बन सकती है लेकिन सागर को समझ नहीं सकती मनुष्य परमात्मा बन सकता है लेकिन परमात्मा को समझ नहीं सकता बूंद अगर सागर में गिर जाए और राजी हो जाए और छोड़ दे अपनी सीमा तो सागर हो जाए सागर होके ही जान पाए कि और कोई उपाय नहीं हम उसी को जान सकते हैं जो हम हो जाते प्रपंच से बाहर होने का अर्थ है जो स्फुरना से हो वही करना महत्वाकांक्षा से मत करना कुछ पाने कुछ होने की आकांक्षा से मत करना जो परमात्मा बनाए जैसा रखे सुख में तो सुख में दुख में तो दुख में अगर ऐसा तुम कर सके तो तुम्हारे जीवन में कभी पश्चाताप ना होगा अगर ऐसा न कर सके तो प्रपंच का फल पश्चाताप है एक दिन तुम बहुत रोओगे और तब कुछ भी ना कर सकोगे क्योंकि जो समय बीत गया बीत गया रंगों के मनहर मेले चले गए छोड़ अकेले एक दिन बहुत रोओगे एक दिन बहुत पछताओगे एक दिन आंखों में सिर्फ टूटे इंद्रधनुष बिखरे सपने आंसुओं के अतिरिक्त कुछ भी ना रह जाएगा रंगों के मनहर मेले चले गए छोड़ अकेले टूटे अनुबंधों जैसे रूठे संबंधों जैसे बिखर रहे पल अनुपल हम फूटे तटबंधों जैसे झरे गिरे तीत पात से भरे भरे गीत गात से पीड़ाओं में घुले मिले आंसू से जी भर खेले सापित वरदान के बुझकर भी जलते दिखे अर्थहीन जीवन जीना जग आकर हमसे सीखे अपनों के तेवर बदले सपनों के जेवर बदले प्रज्वलित पलाश से नयन जैसे गेरू के ढेले सांसें घनसार हो गईं, आशाएं छार हो गईं, अधरों पर चिपकी बेबस मुस्काने भार हो गईं, रोम रोम जलती होली भाल लगी उलझन रोली एक भाव से तथस्थ हो फाग आग दोनों झेले रंगों के मनहर मेले चले गए छोड़ अकेले एक दिन बहुत पछताओगे ये जो आज मेला जैसा मालूम पड़ता ये जो आज रंगों का जमघट है ये ज्यादा देर न टिकेगा ये सपना है ये तुमने ही मान रखा है ये कहीं है नहीं जल्दी ही जीवन ऊर्जा क्षीण होने लगेगी और जैसे जैसे जीवन ऊर्जा छीन होगी वैसे वैसे सपनों के भीतर छिपी सच्चाई प्रकट होगी एक दिन तुम पाओगे जहां तुमने बहुत कुछ देखा था वहां कुछ भी नहीं एक दिन हर आदमी पाता है कि हाथ खाली रह गए जीवन चला गया हाथ खाली रह गए फिर रिक्तता बहुत सालती है फिर रिक्तता बहुत दुख देती बहुत पीड़ा देती फिर रिक्तता बहुत विशास से भर देती नरक का कोई और अर्थ नहीं मरने के बाद तुम नरक जाते हो ऐसा मत सोचना या मरने के बाद स्वर्ग जाते हो ऐसा मत सोचना जिसने जीवन को परमात्मा की स्फुरना से जिया वो यही स्वर्ग में जीता है और जिसने जीवन को अपनी अहंकार की योजना से जिया वो यही नरक में जीता है जो यहां स्वर्ग में है वही मृत्यु के बाद भी स्वर्ग में होगा जो यहां नरक में है वही मृत्यु के बाद भी नरक में होगा क्योंकि मृत्यु के बाद उसी का सिलसिला जारी रहेगा जो मृत्यु के पहले तुमने निर्मित किया था अन्यथा नहीं हो जाएगा अचानक कुछ बदलाहट नहीं हो जाएगी जीवन को रत्ती रत्ती जियोगे एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तो तुम पाओगे कि शिखर उपलब्ध हुआ है दृश्य भाव को नहीं देखते हुए शुद्ध स्फुरन वाले को कहा विधि है कहा वैराग्य है कहा त्याग कहा समन शुद्ध स्फुरन रूपस्य दृश्य भावम अपश्यता क्वा विधि क्वा वैराग्यम क्वा त्यागा क्वा समो अपिवा जो व्यक्ति अपनी अंतर स्फुरना से भर गया है स्फुरन वाले को शुद्ध स्फुरन वाले को स्फुरन का अर्थ होता है स्पॉन्टेनिटी स्फुरन का अर्थ होता है जो अपने आप होता है तुम्हारे किए नहीं होता स्फुरन का अर्थ होता है जिसको तुम्हें करना नहीं पड़ता अचानक तुम पाते हो कि हो रहा है जिससे तुम यहां बैठे हो मुझे सुनते सुनते किसी की तारी लग जाएगी सुनते सुनते किसी की लय मुझसे बंध जाएगी ऐसा नहीं कि तुमने किया तुम करोगे तो यह कभी भी ना हो पाएगा तुम करोगे तो तुम बीच में अड़े रहोगे तुम करोगे तो तुम अटकाते रहोगे उपद्रव मचाते रहोगे तुमने अगर चेष्टा की कि बंध जाए लय फिर न बंधेगी तुम भूलो तुम सिर्फ सुनो सुनते सुनते अनायास एक स्फुरना होती भीतर कोई द्वार खुल जाता कोई रोशनी झांकती भीतर कोई स्वर प्रविष्ट हो जाता तुम मुझसे एक तान हो गए एक रस हो गए जुड़ गए हृदय से हृदय उस क्षण कुछ घटता है उस क्षण आंसू बह सकते उस क्षण तरंग उठ सकती उस क्षण रोमांच हो सकता है उस क्षण रोआ रोआ पुलकित हो सकता है उस क्षण एक दर्शन मिल सकता है क्षण भर को ही सही लेकिन जैसा है उसका एक क्षण को आभास हो सकता है जैसे कोई बिजली कौन गई और अंधेरी रात में रोशनी हो गई और सब दिखाई पड़ गया क्षण भर को यद्यपि क्षण भर को दिखाई पड़ेगा लेकिन पूरे जीवन का स्वाद बदल सकता है क्योंकि जो दिखाई पड़ गया फिर पीछा करेगा फिर बार बार उस दिशा में जाने का रस जगेगा स्वाद जगेगा आकांक्षा होगी अभी होगी प्रतीक्षा होगी पुकार होगी प्रार्थना होगी जो एक बार अनुभव में हुआ फिर उसे छोड़ा नहीं जा सकता फिर बार बार तुम खिंचे किसी अदृश्य जादू में उसी केंद्र की तरफ चलने लगोगे लेकिन ये होगा स्फुरना से ये चेष्टा से नहीं होगा तुम देखो जीवन में जब भी आनंद घटता है स्फुरना से घटता है और जीवन में जब भी आनंद घटता है तो तुम सीधी चेष्टा करो तो कभी नहीं घटता कोई आदमी तैरने जाता है और बड़ा सुख अनुभव करता है तुम उससे पूछो तैरने में सुख आता है मैं भी आऊं मैं भी तैरू मुझे भी सुख मिलेगा मुश्किल शायद तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि तुम पहले से योजना बना के जाओगे कि सुख मिले तुम तैरोगे कम बार बार कनखियों से देखोगे कि अभी तक सुख मिला नहीं बीच बीच सोचने लगोगे अभी तक नहीं मिला कब मिलेगा तो तुम चूक जाओगे वो जो आदमी तैरने जाता है उसे सुख इसलिए मिलता है कि वो सुख की तलाश में गया ही नहीं वो तो तैरने गया है उसकी नजर तो तैरने में लगी है वो तो तैरने में डूब जाता है जब तैरने में डुबकी लग जाती है जब तैरने में पूरा खो जाता है भाव विभोर हो जाता है बस सुख का झरोका खुल जाता है वो इस स्फुरना से होता है इसलिए अक्सर ऐसा होगा मुझे सुनने वाला किसी मित्र को कभी ले आएगा कि तुम आओ तुम एक दफा तो आओ वो सोचता है जो मुझे हो रहा है वही मित्र को भी हो जाएगा जरूरी नहीं आवश्यक नहीं क्योंकि मित्र आएगा कि चलो देखें क्या होता है शायद तुम्हारे भाव दशा को देख के लोभ से भरा है कि जो तुम्हें होता है वही मुझे भी हो जाए नहीं होगा एक मित्र ध्यान करने आए किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है होशियार आदमी है इस दुनिया में होशियार बुरी तरह चूकते हैं कभी कभी पागल पा लेते हैं और होशियार चूक जाते हैं ये दुनिया बड़ी अनूठी है उन्होंने तीन दिन ध्यान किया चौथे दिन मुझे आके कहा कि लोगों को तो होता है कुछ हो रहा है इसको मैं देख सकता हूं मुझे कुछ भी नहीं हो रहा और मैं बड़ी आकांक्षा से आया हूं कि कुछ हो महीनों से प्रतीक्षा की थी इन दिनों की अब छुट्टी मिली है तो आया हूं और कुछ हो नहीं रहा और मैं ये भी मानता हूं कि कुछ हो रहा है लोगों को कुछ हो रहा है किसी को मैं रोते देखता हूं तो मेरे प्राण कब जाते कि मुझे कब होगा किसी को आनंद से नाचते देखता हूं तो मैं भी सोचता हूं कि कब भाग्य के द्वार खोलेंगे मैं भी नाचूंगा मगर मेरे पैरों में कोई पुलक ही नहीं आती मैं बीच बीच में दूसरों को भी देख लेता हूं कि देखो हो रहा है किसी को कि नहीं लेकिन हो रहा है और मुझे नहीं हो रहा बात क्या है कोई मेरे पाप आड़े पड़ रहे कोई मैंने बुरे कर्म किए आदमी कोई ना कोई तर्क खोजता है अपने को समझाने को मैं तुमसे कहता हूं ना तो कोई पाप आड़े आते न कोई कर्म आड़े आते एक ही बात आड़े आती और वह बात है कि तुम बहुत आतुरता से अगर लोभ से भर गए और तुमने योजना बना ली कि सुख लेकर रहेंगे बस मुश्किल हो गई मैंने उनसे कहा तुम ऐसा करो ये सुख का भाव छोड़ दो ये समाधि का भाव छोड़ दो तुम मेरी मानो इतनी मेरी मानो कि तुम ये भाव मत रखो तुम नाचो गाओ ध्यान करो तुम थोड़े दिन के लिए सुख का विचार ही छोड़ दो मिले ना मिले अगर छोड़ सको सुख का भाव तो मिलेगा सीधे सीधे सुख को पाने की कोई व्यवस्था नहीं है इस जगत में सुख आता पीछे के दरवाजे से चुपचाप पग ध्वनि भी नहीं होती तुम जब मस्त होते हो किसी और बात में तब आता है कोई चित्रकार अपना चित्र बना रहा है मुग्ध डूबा सारी दुनिया को भूला उन क्षणों में अस्तित्व नहीं रहा उन क्षणों में स्वयं भी नहीं रहा उस क्षणों में तो बस चित्र बन रहा है सच पूछो तो उन क्षणों में परमात्मा चित्र बना रहा चित्रकार तो मिट गया अलग से स्फुरना काम करने लगी तब चित्र अनूठा बनेगा और तब कभी ऐसा भी होगा कि चित्रकार खड़ा होकर देखेगा मंत्र मुग्ध अपनी ही कृति पर भरोसा न कर पाएगा कहेगा कैसे बनी किसने बनाई पिकासो ने कहा है कि कई बार कोई चित्र बन गया फिर मैंने दोबारा उसे बनाने की कोशिश की और नहीं बना पाया बहुत कोशिश क्यों नहीं बना पाया फिर वैसी बात नहीं बनी फिर किसी दिन बन गया और जब फिर मैंने चेष्टा की तो फिर चूका फिर हारा अहंकार जीतता ही नहीं रविन्द्रनाथ ने कहा है कि जब जब मैंने चेष्टा की तब तक गीत नहीं बने जब बने तभी बने तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि रविन्द्रनाथ बैठे किसी से बात कर रहे हैं और अचानक भाव रूपांतरण हो जाता है अचानक उनके चेहरे पे कोई और आभा आ जाती कोई एक दीवानापन एक मस्ती जैसे कि शराब में डूब गए तो उनके पास रहने वाले लोग उनके शिष्य उनके मित्र उनके परिजन धीरे धीरे जानने लगे थे कि उस समय चुपचाप हट जाना चाहिए गुरुदयाल मलिक उनके एक पुराने साथी थे वो कभी कभी मुझे सुनने आते थे एक बार उन्होंने मुझे आके कहा कि आपसे एक बात कहनी मैं रविन्द्रनाथ के पास जब पहली दफा गया तो मुझे भी कहा गया था कि अगर बीच में और लोग हटे तो तुम भी हट जाना क्योंकि कब उन पर परमात्मा आविष्ट हो जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता उस वक्त बाधा नहीं देनी तो कोई आठ दस मित्र रविन्द्रनाथ को मिलने गए थे गुरुदयाल पहली दफा गए थे और रविन्द्रनाथ ने अपने हाथ से चाय बनाई और सबको वो चाय दे रहे थे और अचानक चाय देते समय उनके हाथ से प्याला छूट गया आंखें बंद हो गई और वो डोलने लगे एक एक आदमी उठ गया वो सब तो परिचित थे और उन्होंने गुरुदयाल को भी इशारा किया कि उठाओ लेकिन गुरुदयाल ने मुझे कहा कि मैं उठ ना सका उन्होंने बहुत इशारा किया तो मैं उठ भी गया तो भी मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया ये जो अपूर्व घट रहा था मैं इसके दर्शन करना चाहता था ये क्या हो रहा था मैंने अपनी आंख के सामने देखा कि अभी एक क्षण पहले जो आदमी था रविन्द्रनाथ अब वही नहीं कोई नई आभा जिससे कोई और आत्मा प्रविष्ट हो गई एक आलोक मंडित व्यक्तित्व जिसे भीतर कोई बुझा था दिया जल गया जिससे रोशनी बाहर आने लगी और एक अपूर्व शांति छा गई और मैं मंत्र मुग्ध खड़ा रहा मन में अपराध भी लग रहा था कि खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि सबने कहा हट जाओ और लोग चले भी गए मैं चोरी से खड़ा हूं लेकिन हट भी ना सका कुछ ऐसा जादू घट रहा था कि हट भी नहीं सका और वो खड़े देखते रहे फिर रविन्द्रनाथ धीरे धीरे डोलने लगे खड़े होकर नाचने लगे और फिर गुनगुनाने लगे गुरुदयाल ने मुझे कहा कि मैंने अपनी आंख के सामने कविता को जन्म लेते देखा वो सौभाग्य का क्षण था वैसा अपूर्व क्षण फिर कभी नहीं मिला मैंने अपने सामने कविता को जन्म लेते देखा फिर रविन्द्रनाथ ने कागज उठा लिया जो गुनगुनाया था वो लिखने लगे और धीरे धीरे गुरुदयाल वहां से हट के चुपचाप अपने कमरे में चले गए तीन दिन तक रविन्द्रनाथ बंद ही रहे अपने कमरे में बाहर ना निकले जब कविता उतरती तो वो भोजन भी बंद कर देते जब कविता उतरती तो वो स्नान भी ना करते जब कविता उतरती तो वो किसी से मिलते जुलते भी नहीं जब कविता उतरती तो कैसा सोना कैसा जगना सब अस्त व्यस्त हो जाता जब कविता उतरती तो कोई और ही उन्हें चलाता कोई और ही उनकी बागडोर थाम लेता इस बात का नाम ही है शुद्ध स्फुरना देखा तुमने ये प्रतीक है कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बने ये इस फुरना का प्रतीक प्रतीक है भगवान तुम्हारा सारथी बने उसके हाथ में तुम्हारे रथ की बागडोर हो वही चला है तुम बैठो भीतर निश्चिंत मन वो जहां ले जाए जाओ भगवान सारथी बने तुम रथ में चुपचाप बैठो वही सारथी है तुम नाहक बीच बीच में आ जाते तुम्हारे बीच में आने से अड़चन पड़ती तुम्हारे जीवन में अगर दुख है तो तुम्हारे कारण अगर कभी सुख होगा तो उसके कारण शुद्ध स्फुरन रूपस्य दृश्य भावम अपश्यता और जिस व्यक्ति के जीवन में शुद्ध स्फुरना का जन्म हुआ उसको फिर दृश्य दिखाई भी पड़ते हैं और एक अर्थ में नहीं भी दिखाई पड़ते क्योंकि अब तो दृष्टा दिखाई पड़ता है इसे समझो तुम जब देखते हो तो तुम स्वयं को नहीं देखते पर को ही देखते हो तुम्हारा बोध का तीर दूसरे पे लगा होता है तुम स्वयं को नहीं देखते तुम देखने वाले को नहीं देखते जो मूल है उसे चूक जाते हो तुम परिधि पर भटकते रहते जिस व्यक्ति ने अपना हाथ परमात्मा के हाथ में दे दिया और कहा अब तू संभाल अब एक बड़ी मजेदार घटना घटती वो तुम्हें तो देखता है लेकिन तुमसे पहले वो जो भीतर छिपा है वो दिखाई पड़ता है वो वृक्ष को देखता है लेकिन वृक्ष के पहले वृक्ष को देखने वाला दिखाई पड़ता है वृक्ष गौण हो जाता है दृश्य गौण हो जाता है दृष्टा प्रमुख हो जाता है आधारभूत हो जाता है तब संसार गौण हो जाता है और सत्य आधारभूत हो जाता है दृश्य भाव को नहीं देखते हुए शुद्ध स्फुरन वाले को कहा विधि है फिर उसके मन में दृश्य के कोई भाव नहीं उठते कि ऐसा देखूं ऐसा देखूं वैसा देखूं ये कोई भाव नहीं उठते जो दिखाई पड़ जाता है ठीक जो नहीं दिखाई पड़ जाता ठीक वो हर हाल राजी ऐसी जो दशा है इसमें ना तो त्याग की कोई जरूरत है न वैराग्य की कोई जरूरत है न विधि की कोई जरूरत है न दमन और समन की कोई जरूरत है अष्टावक्र के सूत्र सिद्ध के सूत्र हैं साधक के नहीं अष्टावक्र कहते हैं सीधे सिद्ध ही हो जाओ ये साधक होने के चक्कर में क्या पड़े साधन में मत उलझो साधना में मत उलझो सीधे सिद्ध हो जाओ क्योंकि परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है तुम कहां जब तप में लगे किसकी पूजा प्रार्थना कर रहे जिसकी पूजा प्रार्थना कर रहे वो तुम्हारे भीतर विराजमान है तुम कहां खोज रहे काबा कैलाश तुम कहां जा रहे जिसे तुम खोज रहे तुम्हारे भीतर बैठा तुम भी जरा शांत होकर बैठ जाओ और उसकी इस फुरना से जियो छोड़ दो सब उस पर बेसरत हिम्मत की जरूरत है दुस्साहस की जरूरत है क्योंकि मन कहेगा ऐसे छोड़े कहीं कोई हानि हो जाए ऐसा छोड़ा कहीं कोई नुकसान हो जाए ऐसा छोड़ा और कहीं भटक गए और मजा ये है कि तुम मन के साथ चल के सिवाय भटके और क्या हुआ है भटकने के सिवाय क्या हुआ है पहुंचे मेरे पास लोग आते वो कहते सन्यास तो ले लें लेकिन समर्पण करने में डर लगता मैं उनसे पूछता हूं तुम्हारे पास समर्पण करने को है क्या क्या है जो तुम समर्पण करोगे तब वो जरा चौंकते झिझकते कंधे बिचकाते कहते ऐसे तो कुछ भी नहीं है तो फिर मैंने कहा डर क्या है तुम्हारे पास छोड़ने को क्या है जो भी तुम्हें लगता है छोड़ने जैसा वो छोड़ा ही लिया जाएगा मौत छोड़ा लेगी उस वक्त तुमसे ये भी नहीं पूछेगी समर्पण करते हो जब मौत सब छोड़ा ही लेगी तो देने का मजा क्यों नहीं ले लेते जब मौत छीन ही लेगी तो तुम खुद ही क्यों नहीं छोड़ देते आज नहीं कल मौत छीन लेगी तो तुम एक मौका खो दे रहे हो तुम खुद ही परमात्मा को कह दो कि मैं खुद ही अपने को छोड़ता तेरे हाथों में और जो आदमी परमात्मा के हाथों में अपने को छोड़ देगा मौत फिर उसकी नहीं होती मौत उसी के पास आती है जो परमात्मा को अपने पास नहीं आने देता इसे समझना तुम इकट्ठा करते अपना कर्तत्व अपना अहंकार धन पद प्रतिष्ठा तुम सोचते हो मैंने ये किया मैंने ये कमाया अर्जन किया ये मेरी प्रतिष्ठा ये मेरा पद फिर एक दिन मौत आती और सब बिखेर देती सब तुम्हारा पद प्रतिष्ठा जैसे किसी ने ताश के पत्तों का महल बनाया हवा का एक झोंका आया और सब गिर गया जिंदगी भर मेहनत की और मिट्टी में मिल गई तुम खुद ही मिट्टी में मिल जाओगे तो तुम्हारी मेहनत कहां जाएगी वो भी मिट्टी में मिल जाएगी सन्यासी बड़ा कुशल है सन्यासी बड़ा समझदार है वो कहता जो मौत छीन लेगी वो हम स्वयं दे देते ऐसे भी छिन जाना है वैसे भी छिन जाना है तो देने का मजा क्यों ना ले लें इतना सुख क्यों ना उठा लें कि दे दिया और तब एक क्रांति घटती तुमने छोड़ा कि फिर तुम्हें मिलना शुरू हुआ जीसस ने कहा है जो बचाएगा वो चूक जाएगा और जो गमा देगा वो पा लेगा जो खोने को राजी है वो पाने का हकदार हो गया फिर कहा विधि कहा त्याग कहा समन्थ नहीं कुछ करना पड़ता एक बात कर लेने जैसी है कि तुम सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दो वो जैसा करवाए वैसा करो वो जैसा उठाए वैसा उठो वो जैसा बैठा है वैसा बैठो और जब मैं ये कह रहा हूं तो फिर दोहरा दू बेसर्त इसमें कोई शर्त बंदी नहीं कि तू अच्छा कराएगा तो करेंगे बुरा कराएगा तो ना करेंगे वही तो अर्जुन के सामने सवाल था वो कृष्ण से इसलिए तो कहने लगा कि ये युद्ध मैं ना करूंगा इसमें तो पाप लगेगा इसमें तो हिंसा होगी इसमें तो परिजनों को मार डालूंगा इस राज्य को लेकर भी क्या करूंगा इतने सब अपने परिजनों को मार के अगर ये राज्य मिला भी तो मरघट पर सिंहासन रख के बैठना हो जाएगा आदमी तो अपनों के लिए ही युद्ध करता है अपने होते तो ही तो सुख होता सिंहासन पर बैठने का अपने ही ना हुए तो क्या सुख किसको दिखाऊंगा मुझे जाने दो अर्जुन कहने लगा चला जाऊंगा दूर जंगल में संन्यास्त हो जाऊंगा कृष्ण की सारी गीता एक बात समझाती कि परमात्मा जो कराए बेसर्त युद्ध कराए तो युद्ध अच्छा तो अच्छा बुरा तो बुरा तुम बीच में ना हो तुम्हारा निमित्त होना परिपूर्ण हो तुम चुनो ना तुम्हारा होना चुनाव रहित हो तभी तुम समर्पण किए अन्यथा तुमने समर्पण ना किया जहां समर्पण है वहां स्फुरना है समर्पण स्फुरना साथ साथ है बाहर समर्पण भीतर स्फुरना जिसने समर्पण नहीं किया वो कभी स्फुरना को उपलब्ध ना हो सकेगा और इसको कहा है अलक्ष्य स्फुरना शुद्ध स्फुरन रूपस अलक्ष्य का अर्थ होता है अकारण परमात्मा का कोई कारण नहीं है परमात्मा सबका कारण है सब उसने बनाया उसे किसी ने नहीं बनाया सबके पीछे वो है उसके पीछे कुछ भी नहीं है वो कारणों का कारण है अकारण वो मूलभूत है उससे मूलभूत फिर कुछ भी नहीं है वो जड़ है उसके पार फिर कुछ भी नहीं है न उसके नीचे कुछ है ना उसके ऊपर कुछ है सब उसके भीतर है तो जो परमात्मा से होता है वो अकारण होता है तुम हो किस कारण हो मन में सवाल उठते किस लिए हूं मैं क्या कारण है मेरे होने का सिर्फ इस देश में उसका ठीक ठीक उत्तर दिया गया है सारी दुनिया में उत्तर देने की कोशिश की गई है ईसाई कहते हैं कुछ मुसलमान कहते हैं कुछ यहूदी कहते हैं कुछ लेकिन सिर्फ इस देश में ठीक ठीक उत्तर दिया गया है इस देश का उत्तर बड़ा अनूठा है अनूठा है लीला के कारण लीला का मतलब होता है अकारण खेल है उसकी मौज है इसमें कुछ कारण नहीं है क्योंकि जो भी कारण तुम बचा, बताओगे वो बड़ा मूर्तापूर्ण मालूम पड़ेगा कोई कहता है परमात्मा ने इसलिए संसार बनाया कि तुम मुक्त हो सको ये बात बड़ी मूर्तापूर्ण क्योंकि पहले संसार बनाया तो तुम बंधे न बनाता तो बंधन ही नहीं था मोक्ष होने की जरूरत क्या थी ये तो बड़ी उल्टी बात हुई कि पहले किसी को जंजीरों में बांध दिया और फिर वो पूछने लगा जंजीरों में क्यों बांधा तो उसको जवाब दिया कि तुम्हें मुक्त होने के लिए जंजीरों में कहा को बांधा जब मुक्त ही करना था परमात्मा ने संसार को बनाया आदमी को मुक्त करने के लिए ये तो बात उचित नहीं अर्थपूर्ण नहीं बेमानी कि परमात्मा ने संसार को बनाया कि आदमी ज्ञान को उपलब्ध हो जाए ये भी बात बेमानी इतना बड़ा संसार बनाए तो ज्ञान ही सीधा दे देता इतने चक्कर की क्या जरूरत थी कि परमात्मा ने बुराई बनाई कि आदमी बुराई से बचे ये कोई बातें हैं ये कोई उत्तर है बुराई से बचाना था तो बुराई बनाता ही नहीं प्रयोजन ही क्या है ये तो कुछ अजीब सी बात हुई कि जहर रख दिया ताकि तुम जहर न पियो तलवार दे दी ताकि तुम मारो मत कांटे बिछा दिए ताकि तुम संभल के चलो पर जरूरत क्या थी ठीक इस देश में उत्तर दिया गया है उत्तर है लीलावत ये जो इतना विस्तार है ये किसी कारण नहीं इसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं इसके पीछे कोई व्यवसाय नहीं है इसके पीछे कोई लक्ष्य नहीं है ये अलक्ष्य है फिर क्यों है जैसे छोटे बच्चे खेल खेलते ऐसा परमात्मा अपनी ऊर्जा का स्फुरन कर रहा है ऊर्जा है तो स्फुरन होगा जैसे झरनों में झरझर नाद हो रहा है जैसे सागरों में उत्तुंग लहरें उठ रही ये सारा जगत एक महा ऊर्जा का सागर है ये ऊर्जा अपने से ही खेल रही अपनी ही लहरों से खेल रही खेल शब्द ठीक शब्द है लीला शब्द ठीक शब्द है ये कोई काम नहीं है जो परमात्मा कर रहा है लीलाधर ये उसकी मौज है ये उसका उत्सव है इस भांति देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा अलक्ष्य स्फुरन का क्या अर्थ हुआ अलक्ष्य स्फुरन का अर्थ हुआ इसके पीछे कोई भी कारण नहीं पूछते हो फूल क्यों खिलता है पूछते हो वृक्ष क्यों हरे हैं पूछते हो नदी क्यों सागर की तरफ बहती पूछते हो क्यों आदमी आदमी से प्रेम करता है कभी पूछा जब तुम किसी के प्रेम में पड़ जाते किसी स्त्री किसी पुरुष के तुमने पूछा क्यों कोई क्यों नहीं कोई उत्तर नहीं पूछने जाओगे उत्तर न पाओगे या जो भी तुम उत्तर पाओगे सब बनावटी होंगे झूठी होंगे तुम कहते हो मैं इस स्त्री के प्रेम में पड़ गया क्योंकि ये सुंदर है बात तुम उल्टी कह रहे ये तुम्हें सुंदर दिखाई पड़ती क्योंकि तुम प्रेम में पड़ गए ये दूसरों को सुंदर नहीं दिखाई पड़ती लैला सिर्फ मजनू को सुंदर दिखाई पड़ती थी किसी को सुंदर नहीं दिखाई पड़ती थी गांव के सम्राट ने मजनू को बुला के कहा कि मुझे तुझ तो पर दया आती पागल ये लैला बिल्कुल साधारण है और तू नाहक दीवाना हुआ जा रहा ये देख एक दर्जन स्त्रियां उसने खड़ी कर दी महल से तो इनमें तू कोई भी चुन ले तुझे रास्ते पर रोते देख के मैं भी दुखी हो जाता और दुख और भी ज्यादा हो जाता है कि किस लला के पीछे पड़ा काली कलूटी है बिल्कुल साधारण है ये देख इतनी सुंदर स्त्री है मजनू ने गौर से देखा कहने लगा क्षमा करें इनमें लैला कोई भी नहीं फिर वही बात सम्राट ने कहा लैला में कुछ भी नहीं रखा है मजनू कहने लगा आप समझे नहीं लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए मेरे आंख के बिना आप देख ना सकेंगे लैला होती ही मजनू की आंख में तो तुम जिस स्त्री के प्रेम में पड़ गए हो तुमसे कोई पूछे क्यों पड़ गए तो तुम कहते हो सुंदर है तुम कहते हो उसकी वाणी मधुर है तुम कहते हो उसकी चाल में प्रसाद है मगर ये सब बातें झूठ है तुम प्रेम में पड़ गए उसकी चाल में प्रसाद मालूम पड़ता वाणी मधुर मालूम पड़ती चेहरा सुंदर मालूम पड़ता कल जब तुम्हारा सपना टूट जाएगा यही चाल बेढब लगने लगेगी और यही वाणी कर्कश हो जाएगी और यही चेहरा अति साधारण हो जाएगा ये एक सपना है जो तुमने प्रेम के कारण देखा प्रेम अकारण है अगर तुम अपने जीवन को भी समझने चलो तो तुम यही पाओगे कि यहां जो भी है सब अकारण है एक बार ये ख्याल में आ जाए कि सब अकारण है तो जीवन से चिंता हट जाए जहां कोई कारण नहीं वहां चिंता का कोई उपाय नहीं और अनंत रूप से प्रकाशित स्फुरित प्रकृति को नहीं देखते हुए ज्ञानी को कहा बंध है और कहा मोक्ष है कहां हर्ष कहां विषाद इस फर्तो अनंत रूपेण प्रकृतिम चन्ना पश्यता क्वा बंधा क्वा चवा मोक्षा क्वा हर्षा क्वा विषादता और ये जो प्रकृति चारों तरफ स्फुरित हो रही इस फुरतो अनंत रूपेण ये जो अनंत अनंत रूप में चारों तरफ प्रकृति का खेल चल रहा है लीला चल रही और इस प्रकृति के पीछे परमात्मा का खेल चल रहा है इस अनंत खेल को भी ज्ञानी देखता नहीं ज्ञानी का इसमें बहुत रस नहीं है वो इससे भी बड़े खेल में उतर गया वो इस खेल को खेलने वाले को देखने लगा अब क्या देखना छोटी बात है माना वृक्ष बहुत सुंदर है और चांद भी बहुत सुंदर है और सूरज जब सुबह उगता है तो अपूर्व है लेकिन भीतर के सूरज के मुकाबले कुछ भी नहीं कबीर ने कहा जब भीतर का सूरज उगा तो जाना कि असली सूरज क्या है हजार हजार सूरज जैसे एक साथ उग गए फिर भी बात पूरी नहीं होती क्योंकि जो अंतर है वो परिमाण का नहीं है मात्रा का नहीं गुण का है भीतर एक प्रकाश है जो अपूर्व है बाहर का तो सब प्रकाश एक ना एक दिन बुझ जाएगा ये सूरज भी बुझ जाएगा वैज्ञानिक कहते चार हजार साल के भीतर ये सूरज बुझ जाएगा क्योंकि इसकी ऊर्जा रोज चुकती जाती इसका ईंधन कम होता जाता तुम्हारे घर में जो तुम दिया जलाते हो सांझ वही सुबह नहीं बुझता है ये सूरज भी बुझेगा इसका तेल भी चुक रहा है माना कि इसकी रात बड़ी लंबी करोड़ों करोड़ों अरबों वर्ष लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है अनंत काल में अरबों वर्ष भी ऐसे है हैं जैसे एक रात सांझ तुमने दिया जलाया सुबह तेल चुप गया दिया बुझ गया भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता ही नहीं बिन बाती बिन तेल न तो वहां बाती है और न तेल है ऐसा एक प्रकाश है उस प्रकाश को जिसने देख लिया फिर ये सब प्रकाश ठीक है मालूम होंगे श्री अरविंद ने कहा है जब तक भीतर के प्रकाश को न देखा था तब तक सोचता था बाहर का प्रकाश ही प्रकाश है जब भीतर के प्रकाश को देखा तो जिसे अब तक बाहर का प्रकाश माना था वो अंधकार जैसा दिखाई पड़ने लगा और जब असली जीवन को देखा तो जिसे जीवन समझा था वो मौत मालूम होने लगी और जब असली अमृत का स्वाद चखा तो जिसे अब तक अमृत समझा था वो विष हो गया जहर हो गया ज्ञानी मूल को देख लेता लीला की गहराई में छिपे लीलाधर को पकड़ लेता नृत्य के भीतर नाचते नटराज को पकड़ लेता बात खत्म हो गई जब नटराज से संबंध जुड़ गया नृत दिखता भी दिखता भी नहीं इस फुरतो अनंत रूपेण प्रकृतिम चना पश्चिता फिर ये खेल चलता रहता बाहर लेकिन ज्ञानी में इसकी तरफ कोई लगाव कोई रुचि कोई दौड़ नहीं रह जाती और जब ऐसी दौड़ ही ना रह जाए तो फिर कहा बंद कहा मोक्ष ये बाहर का खेल ही बांधता है जब ये बांध लेता है तो फिर मुक्त होने की कोशिश करनी पड़ती और जिसको भीतर का रहस्य धर दिखाई पड़ गया उसे तो बाहर का खेल बांधता ही नहीं इसलिए मोक्ष का भी कोई कारण नहीं दृष्टि तंद्रिल श्रवण सोए अश्रु पंकिल नयन खोए मन कहा है क्या हुआ है लग रहे कुछ भग्न से हो भ्रमशिला संलग्न से हो कर रहे हो ध्यान किसका क्यों स्वयं में मग्न से हो लग रहे हो समय बाधित आप अपने से पराजित हाय यह कैसी व्यवस्था किस बुरे ग्रह ने छुआ है क्यों हुए उद्विग्न इतने पथ प्रताड़ित विघ्न जितने सोचकर देखो तनिक तो श्वास है निर्विघ्न कितने क्या चरण कोई कहीं है काल कबलित जो नहीं है हर तरफ तम की विरासत धुंध है कड़वा धुआं है तंतु प्रेरित गात्र हो तुम एक पुतले मात्र हो तुम इस जगत की नाटिका के क्षणिक भंगुर पात्र हो तुम इसलिए हर भूमिका में रंग भरो तुम भूमि जामे बन सको निरपेक्ष तो फिर क्या हुआ क्या दुआ क्या बद दुआ है मन कहा है क्या हुआ है दृष्टि तंद्रिल श्रवण सोए अश्रु पंकिल नयन खोए मन कहा है क्या हुआ है हम इतने बुरी तरह जो भटके मन कहीं बाहर है इसलिए भटके मन कहा है क्या हुआ है और ये जो मन बाहर भटका है कहीं कहीं भटका है अनंत अनंत संसारों में भटका है न मालूम कितनी वासना कामनाओं में भटका है इसकी वजह से हम घर नहीं लौट पाते यह हमें खींचे लिए जाता यह हमें दौड़ाए चला जाता इसकी वजह से हम अपने को नहीं देख पाते ये सब दिखा देता है और अपने से वंचित कर देता मन कहा है क्या हुआ है तंतु प्रेरित गात्र हो तुम एक पुतले मात्र हो तुम इस जगत की नाटिका के क्षण भंगुर पात्र हो तुम इसलिए हर भूमिका में रंग भरो तुम भूमिजा में बन सको निरपेक्ष तो फिर क्या दुआ क्या बद दुआ है मन कहा है क्या हुआ है जैसे ही ज्ञानी अपने दृष्टा में ठहरता है दृश्य से हटता और दृष्टा में ठहरता इसको मैं कहता हूं 180 डिग्री वाला रूपांतरण पूरा वर्तुल घूम गया पूरा चाक घूम गया हम बाहर देखते ज्ञानी भीतर देखता हम आंख खोल के देखते ज्ञानी आंख बंद करके देखता हम विचार से देखते ज्ञानी निर्विचार से देखता हम मन से देखते ज्ञानी अमन से देखता है उल्टी हो गई बात सब हमारी ऊर्जा बहिर्मुखी ज्ञानी की ऊर्जा अंतर्मुखी हम बाहर जाते ज्ञानी भीतर आता बस आंख बंद करके जो दिखाई पड़ता है वही सत्य है एक बार आंख बंद करके तुम्हें भीतर का सत्य दिखाई पड़ जाए फिर तुम आंख खोलना फिर बाहर तुम्हें परमात्मा दिखाई पड़ेगा प्रपंच नहीं और फिर कैसा बंधन परमात्मा ही है कैसा बंधन और फिर कैसा मोक्ष उससे मुक्त होने का प्रश्न भी कहा है हम उसके साथ एक है वह हमारा स्वभाव है वही हमारा रस है ही शोभता तो है बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते इस सूत्र को खूब ध्यान से समझना निर्ममो निरअहकारो निष्कामा शोभते बुधा दो शब्दों का भेद पहले समझ लो बुद्धि और बुद्धत्व अज्ञानी के पास बुद्धि है ज्ञानी के पास बुद्धत्व बुद्धि का अर्थ होता है विचार की क्षमता और बुद्धत्व का अर्थ होता है निर्विचार की क्षमता बुद्धि का अर्थ होता है ऐसा आकाश जो बादलों से घिरा है बुद्धत्व का अर्थ होता है ऐसा आकाश जो अब बादलों से नहीं घिरा है बुद्धि ही जब परम शुद्ध हो जाती तो बुद्धत्व बन जाती ऊर्जा वही है बुद्धि ऐसी ऊर्जा है जैसे सोना मिट्टी में पड़ा है धूल धूसरित कंकड़ पत्थर मिला बुद्धत्व ऐसा सोना है जो आंख से गुजर गया कचरा कूड़ा जल गया परिशुद्ध हुआ 24 कैरेट सोना जब परिशुद्ध हो जाता है तो बुद्धत्व और सोना जब कंकड़ पत्थर मिट्टी कचरे से मिला रहता है तो बुद्धि बुद्धि को शुद्ध करते करते ही बुद्धत्व का जन्म होता है समझो इस सूत्र को बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्र विवर्तते बुद्धि पर्यंत संसार है बुद्धि ही संसार है बुद्धि पर्यंत संसार है ये जो तुम्हारे भीतर विचारों का जाल है ताना बाना है यही संसार है धीरे धीरे विचारों को त्यागते जाओ छोड़ते जाओ छीन करते जाओ तुम्हारे भीतर कभी कभी ऐसे अंतराल आने लगेंगे जब क्षण भर को कोई विचार ना होगा एक विचार गया और दूसरा आया नहीं थोड़ी देर को खाली जगह छूट गई उसी खाली जगह में से तुम्हें अपना दर्शन होगा उस अंतराल का नाम ही ध्यान की झलक है वहां से तुम्हें पहले स्वाद मिलने शुरू होंगे जैसे किसी ने द्वार खोला और सूरज दिखाई पड़ा बहुत दूर है सूरज अभी लेकिन द्वार खोलने से दिखाई पड़ता ऐसे ही एक विचार भी गिर जाए और थोड़ी सी खाली जगह आ जाए तो उसी खाली जगह में से अपने से संबंध जुड़ता क्षण भर को जुड़ता लेकिन वो क्षण भी शाश्वत हो जाता वो क्षण भी रूपांतरित कर जाता वो क्षण भी बड़ी गहरी कीमिया है बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्र विवर्तते और जब तक बुद्धि है विचारों से भरा हुआ जाल है तुम्हारे भीतर तब तक संसार है और तब तक माया ही माया है इसको ख्याल में लें संसार बाहर नहीं है बुद्धि के विचारणा में है संसार ध्यान का अभाव है निर्ममो निरअहकारो निष्कामा शोभते बुधा और वो जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया उसके भीतर कौन सी क्रांति घटती न तो उसके भीतर ममता रह जाती न अहंकार रह जाता न कामना रह जाती विचार के जाते ही ये तीन चीजें चली जाती कामना चली जाती बिना विचार के कामना चल नहीं सकती कामना को चलने के लिए विचार के अस्त्र चाहिए विचार के घोड़ों पर बैठ के ही कामना चलती अगर तुम्हारे भीतर विचार नहीं तो तुम कामना को फैलाओगे कैसे किन घोड़ों पर सवार करोगे कामना को निर्विचार चित्त में तो कामना की तरंग उठ ही नहीं सकती इसलिए कामना मर जाती विचार के साथ ममता मर जाती किसको कहोगे मेरा किसको कहोगे अपना किसको कहोगे पराया मेरा और तेरा विचार का ही संबंध है जहां विचार नहीं वहां कोई मेरा नहीं कोई तेरा नहीं जहां विचार नहीं वहां सब संबंध विसर्जित हो गए सब संबंध विचार के और तीसरी चीज अहंकार जहां विचार नहीं वहां मैं भी नहीं बचता क्योंकि मैं सभी विचारों के जोड़ का नाम है सभी विचारों की इकट्ठी गठरी का नाम मैं है ये तीन चीजें हट जाती हैं जैसे ही विचार हटता इसलिए मेरा सर्वाधिक जोर ध्यान पर है ध्यान का इतना ही अर्थ होता है तुम धीरे धीरे निर्विचार में रमने लगो बैठे हैं कुछ सोच नहीं रहे चल रहे हैं और कुछ सोच नहीं रहे सोच ठहरा हुआ है इस ठहरेपन में ही तुम अपने में डुबकी लगाओगे इस ठहरेपन में ही स्फुरना होगी समाधि जगेगी बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्र विवर्तते निर्ममो निरअहकारे निरअहकारो निष्कामा शोभते बुधा अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्चितो मुने क्वा विद्या चा क्वा वा विश्व क्वा देहो अहम ममेती वा अविनाशी और संताप रहित आत्मा को देखने वाले मुनि को कहा विद्या कहा विश्व कहा देह और कहा अहंता ममता है अविनाशी और संताप रहित आत्मा को देखने वाले अक्षयम मन क्षण भंगुर है देखा तुमने विचार ज्यादा देर नहीं टिकता एक विचार आया आया गया तुम रोकना भी चाहो तो भी ज्यादा देर नहीं टिकता तुम एक विचार को थोड़ी देर रोक के देखो तुम पाओगे नहीं टिकता तुम लाख कोशिश करो वो जाता आता जाता विचार में गति है विचार भागा भागा है विचार पागल है ठहरता नहीं रुकता नहीं फिर नहीं होता विचार क्षण भंगुर है इसलिए विचार में क्षय है जहां निर्विचार है वहां अक्षयम वहां अक्षय की शुरुआत है वहां तुम क्षण के पार गए शाश्वत में उतरे विचार समय की धारा है और विचार के बाहर हुए कि कालातीत हुए इसलिए समस्त ज्ञानियों ने ध्यान को कालातीत कहा है समय के पार समय के भीतर जो है संसार है और समय के पार जो है वही सत्य है अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्चितो मुने और जो व्यक्ति इस भीतर की अविनाशी धारा को अनुभव कर लेता है उसके सब संताप समाप्त हो जाते फिर समझो जितने भी जीवन के दुख हैं सब विचार के दुख हैं जितने भी जीवन का संताप है सब विचार का संताप है किसी ने गाली दी और तुम्हारे भीतर विचारों की एक तरंग उठ गई कि मेरा अपमान हो गया अपमान हो गया इस विचार से दुख होता है खली जिब्रान की बड़ी मीठी कथा है एक आदमी परदेश गया ऐसे देश जहां उसकी भाषा कोई समझता नहीं एक होटल के सामने खड़ा है लोग भीतर बाहर आ जा रहे हैं वो सोचने लगा क्या है यहाँ जाके मैं भी देखूं इतने लोग आते जाते बड़ा महल जैसा मालूम होता अगर गरीब आदमी गरीब देश से आता वो भीतर चला गया वहां अनेक लोग टेबल कुर्सियों पर बैठे हैं तो वो भी बैठ गया वो बड़ा प्रसन्न है बड़ी शीतल है सब सुंदर है सुभाषित है और तभी वेटर आया तो उसने समझा कि मेरे स्वागत में मालिक ने अपने आदमी भेजे वेटर ने उसे समझने की कोशिश की कुछ समझ ना सका तो जो भी सामान्य भोजन था वो ले आया उसने भोजन किया बहुत प्रसन्न हुआ झुक झुक के धन्यवाद देने लगा वेटर उसको पैसे मांगे और वो धन्यवाद दे क्योंकि भाषा तो समझ में नहीं आती वो समझ रहा है कि मेरा स्वागत किया गया अंततः वेटर उसे मैनेजर के पास ले गया मैनेजर भी नाराज होने लगा लेकिन वो समझ रहा है कि मुझ परदेसी का इतना सम्मान किया जा रहा फिर उसे भेजा गया अदालत में वो यही समझा कि सम्राट के पास भेजा जा रहा अदालत बड़ी थी और सम्राट जैसा ही लगता था मजिस्ट्रेट तो बड़ा झुका मजिस्ट्रेट उससे बहुत पूछता है कि तूने भोजन लिया तो पैसे क्यों नहीं चुकाए है मगर उसी को समझ में आता नहीं वो भाषा समझता नहीं वो जो कहता है सम... मजिस्ट्रेट नहीं समझ पाता आखिर मजिस्ट्रेट ने कहा या तो ये आदमी पक्का धूर थे कि समझना नहीं चाहता और या फिर महामूर्ख जो भी हो इसको सजा दी जाए इसके गले में एक तख्ती लटका दी जाए कि यह आदमी धूर्त है और गधे पे बिठाल के इसकी सवारी गांव में घुमा दी जाए ताकि लोग जान लें कि इस तरह का काम कोई दोबारा ना करे मगर वो तो बड़ा प्रश्न है जब उसके गले में तख्ती लटकाएगी तो संसार हो गई मुझे गरीब आदमी का कैसा स्वागत हो रहा है और जब गधे पर उसे बिठाला गया तो, तो उसकी मगनता का अंत ना रहा उसने कहा ये लोग भी आश्चर्यजनक क्योंकि वो गरीब आदमी घर पे गधे पे बैठता था तो उसने सोचा हद उन्होंने पता भी कैसे लगा लिया कि मैं गधे पे बैठता हूँ और अब मेरी शोभा यात्रा निकल रही और बच्चे शोरगुल मचाते और लोग हंसते और पीछे चलते और बड़ा जुलूस चला और वो बड़ी अकड़ से बैठा सिर्फ एक बात मन में उसके खटकने लगी कि जब मैं लौट के अपने गांव में कहूंगा तो कोई मानेगा नहीं कि ऐसा ऐसा स्वागत हुआ आज अगर कोई एक भी आदमी मेरा गांव वाला होता तो मजा आ जाता अब ये हो भी रहा है स्वागत तो बेकार है यहां कोई मुझे जानता नहीं और जहां लोग मुझे जानते हैं वहां कोई मानेगा नहीं तभी उसने देखा कि भीड़ में एक आदमी उसके देश का खड़ा है वो आदमी कोई दस बीस साल पहले आ गया था तो वो बड़ा खुश हुआ उसने कहा देखते हो भाई कैसा मेरा स्वागत हो रहा वो आदमी तो उसकी भाषा समझता है वो जल्दी से भीड़ में सड़क गया वो इसलिए भीड़ में सड़क गया कि ये मूल समझ रहा है कि स्वागत हो रहा है वो इस देश की भाषा भी समझने लगा है और कोई ये ना पहचान ले कि मैं भी इसी आदमी के देश का रहने वाला हूं कोई मुझे भी ऐसा ना समझे कि मैं भी दूर तू तो भीड़ में चुपचाप सरक गया और ये गधे पे बैठा आदमी सोचा हद हो गई ईर्षा की भी मेरा स्वागत देख के जलन पैदा हो रही इसको इसका कभी स्वागत नहीं हुआ मालूम होता बीस साल हो गए आए हुए तुम्हें कोई गाली देता है गाली तुम्हारे भीतर विचारों का एक जाल पैदा करती अगर तुम गाली को शांत भाव से सुन सको और तुम्हारे भीतर विचार का कोई जाल पैदा ना हो गाली में नहीं है दंश क्योंकि गाली अगर तुम्हारी समझ में ना आए तो कोई अड़चन नहीं इसलिए गाली में दंश नहीं है दंश तो तुम्हारी विचार की प्रक्रिया में जब भीतर विचार चलने लगे तो तुम पीड़ित हुए किसी ने सम्मान किया तो तुम प्रफुल्लित होते हो सम्मान में नहीं है प्रफुल्लता तुम्हारे भीतर विचारों की जो तरंगें उठने लगती उनमें ज्ञानी सुख और दुख में सम्मान अपमान में निर्विचार बना रहता जो होता उसे देख लेता लेकिन उसको कोई बहुत मूल्य नहीं देता तथस्थ बना रहता है संताप से मुक्त हो जाता है संताप हम पैदा करते हैं सोच सोच के हम संताप के लिए बड़ी मेहनत करते हैं तब पैदा होता हम ऐसे दीवाने हैं कि 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी अब भी उसको संभाल कर रखे धरो धरोहर की तरह जैसे कोई हीरा जवाहरात हो अभी भी दिल में चोट आ जाती अभी भी याद कर लो उस बात को तो नथने फड़फड़ाने लगते हाथ पैर गर्म हो जाते मारने मारने की मरने मारने की जिद आ जाती बीस साल पहले किसी ने गाली दी थी हवा का झोंका आया और कप का गया लेकिन तुम उसे पकड़े बैठे हो एक स्मृति को पकड़े बैठे हो तुम घाव को भरने नहीं देते तुम घाव को कुरेदते रहते हो ताकि घाव हरा बना रहे लोग बड़े दुखवादी हैं जो मनुष्य इस जगत में आनंदित होना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता है और अगर तुम दुखी हो तो तुम्हारे कारण दुखी हो कोई तुम्हें दुखी कर नहीं रहा ये जो जिस ढंग से हम जी रहे हैं इस जीने में कहीं बुनियादी भूल हो रही अंधेरा बहुत बड़ा है मन का अंधेरा विचार का अंधेरा और जरा सी समझ है बड़ी छोटी समझ जरा चोट पड़ती है कि समझ बिखर जाती अंधेरा पूरा हो जाता जरा चोट पड़ी कि तुम्हारी समझदारी गई बड़े से बड़ा समझदार आदमी जरा सी चोट में विचलित हो जाता और समाप्त हो जाता आंगन भर धूप में मुट्ठी भर छाओ की क्या विषाक्त हो ना हो अंतर की पीर कसे अधरों पर हार हाथ हसे उलझन के झुरमट में किरणों के हिरण फंसे शहरों की भीड़ में नन्हे से गांव की क्या बिसात हो न हो ढहते प्रण हाथ गहे तटने आघात सहे भावी के सुख सपने लहरों के साथ बहे तूफानी ज्वार में कागदिया नाव की क्या बिसात हो न हो भेद भरे राज खुले सुख दुख जब मिले जुले बावरिया दृष्टि धुली आंसू के तुहिन घुले कालजयी राह पर क्षण जीवी पाओ की क्या बिसात हो न हो हमारी समझ बड़ी क्षण जीवी है हमारे पैर बड़े कमजोर हमारी बुद्धि तो ऐसी है जैसे बड़े गहन अंधकार में जरा सी रोशनी है बस जरा झिलमिलाती रोशनी है अब मरी तब मरी ढहते प्रण हाथ रहे तटने आघात सहे भावी के सुख सपने लहरों के साथ बहे तूफानी ज्वार में कागदिया नाव की क्या विसात हो न हो हमारी नाव तो कागज की है और तूफानी सागर है इस कागज की नाव में पार करने का तय किया है डूबना सुनिश्चित है कुछ और नाव बनाओ कुछ ऐसी नाव बनाओ जो कागज की ना हो कुछ ऐसी नाव बनाओ जो वस्तुता उस पार ले जाए ये मन की नाव तो कागज की नाव है ध्यान की नाव बनाओ ये दृश्य में उलझे उलझे तो बस आंगन भर धूप में मुट्ठी भर छाओ की क्या विसात हो ना हो ये जो तुम्हारी अभी विचारों के द्वारा जो तुमने थोड़ी सी समझ का भ्रम पाल रखा है ये बहुत काम नहीं आता आंगन भर धूप में मुट्ठी भर छाओ की क्या बिसात हो ना हो ये जरा जरा में खो जाती ये कभी काम नहीं आती जब जरूरत नहीं होती तब तो मालूम होती जब जरूरत होती तब खो जाती जब तुम घर में बैठे हो किसी ने कोई अपमान नहीं किया तब तुम बड़े शांत मालूम पड़ते हो किसी ने जरा सा अपमान कर दिया सब शांति खो गई जब फिर शांत हो जाओगे तो फिर सोचोगे कैसी भूल हो गई ना करते तो अच्छा था अब ये बड़े मजे की बात है तुम्हारी समझ तभी आती जब काम नहीं होता और जब काम होता तभी खो जाती ये तो ऐसे ही कि जब जरूरत पड़े खीसे में हाथ डालो पैसे न डाल और जब जरूरत ना रहे हाथ डालो पैसे खनखानाने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाए जब जरूरत हो तब गरीब तब बैंक देने को तैयार नहीं और जब जरूरत ना हो तब बैंक कहती आओ आपका ही है सब मगर जब जरूरत ना हो तुमने ख्याल किया तुम्हारी समझ तभी काम आती जब काम की नहीं होती कोई जरूरत ही नहीं होती हाँ शास्त्र पढ़ रहे हैं तो तुम बड़े बुद्धिमान होते बाजार में दुकान पर जीवन के संघर्ष में सब बुद्धि खो जाती भेद भरे राज खुले सुख दुख जब मिले जुले बाबरिया दृष्टि धुली आंसू के तुहिन घुले काल जयी राह पर क्षणजीवी पाओ की क्या बिसात हो न हो पाओ है बड़ा क्षणजीवी ये जो विचार के चरण है इनसे तुम अनंत के द्वार तक न पहुंच पाओगे कोई और पैर चाहिए कोई और ज्योति चाहिए जो इतनी जल्दी जल्दी बुझ न जाती हो ऐसी ज्योति चाहिए जो बुझती ही ना हो कालजयी ज्योति चाहिए ऐसा कुछ चाहिए जिसे मृत्यु भी मिटा ना सके अभी तो किसी ने गाली दी और मिट जाता सब अभी तो किसी ने सम्मान किया कि तुम डमाडोल हो गए अभी तो दो पैसे हाथ लग गए तो तुम फूले नहीं समाते दो पैसे गिर गए तो आत्महत्या का विचार उठने लगता है अभी तो बात बड़ी छोटी है मौत आएगी तो तुम कैसे समझोगे और मौत आने वाली है इसलिए तो लोग मौत से इतने डरते बुद्धि से काम न चलेगा बुद्धत्व चाहिए अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्यतो मुने वही हो पाता है संताप से मुक्त जो अविनाशी के साथ अपना संबंध जोड़ लेता अविनाशी के साथ अकाल के साथ जो कभी अंत नहीं होगा उसके साथ जो संबंध जोड़ लेता है वही संताप के पार हो जाता है और ऐसी आत्मा को देखने वाले मुनि को कहा विद्या फिर उसको शास्त्रों में नहीं खोजना पड़ता शब्दों में नहीं खोजना पड़ता विद्या की कोई जरूरत ना रही उसके भीतर ही द्वार खुल गया ज्ञान का मंदिर के पट अपने भीतर ही खुले अब उसे किसी शास्त्र में नहीं जाना पड़ता स्वयं का शास्त्र उपलब्ध हो गया जहां से सब शास्त्र जन्मे हैं सब वेद कुरान गुरु ग्रंथ जहां से जन्मे हैं वही स्रोत उपलब्ध हो गया उस मूल स्रोत से संबंध जुड़ गया अब बासे सिद्धांत और बासी धारणाओं की कोई भी जरूरत ना रही ऐसी आत्म प्रतीति में ही इति निश्चयी व्यक्ति निश्चय को श्रद्धा को उपलब्ध होता है विश्वास काम नहीं आते श्रद्धा काम आती विश्वास बचकाना है संस्कार मात्र है श्रद्धा अनुभव है और श्रद्धा जिसे पाना हो उसे ध्यान की नाव में सवार होना पड़े जल्दी करो समय बीत जाएगा समय बीत ही रहा है जल्दी करो कि ध्यान की नाव बन जाए इसके पहले की मौत तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे तुम्हारी ध्यान की नाव तैयार हो जानी चाहिए तो फिर मृत्यु समाधि बन जाती फिर मृत्यु में तुम्हें परमात्मा के ही दर्शन होते फिर मृत्यु में उसी से आलिंगन होता है अभी तो जीवन में भी तुम परमात्मा से चूके हो तब फिर मृत्यु में भी मिलना होता है और जब कोई मृत्यु में भी उसको ही पाता है तभी समझना कि जीवन में भी पाया है और उसे पाए बिना हमारा सब पाया हुआ व्यर्थ है उसे पाए बिना तुम और कुछ भी पालो एक दिन पछताओगे बुरी तरह पछताओगे बहुत रोओगे और फिर रोने से भी कुछ न होगा क्योंकि गया समय हाथ लौटता नहीं जो जा चुका जा चुका समय रहते जाग जाना चाहिए जागो आज इतना ही